मनोहर विमल यश दायक फल चारु सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सर्व संतन की जय <clears throat> दो इकसठ के बाद सिक्सटी वन हरसि राम बेट्यु हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरत वैद सब तीन उपायी उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई हृदय लाए प्रभु देव भ्राता हर से सकल भालु कपि भ्राता कभी पुनि वैदिता पहुँचावा यही विधि तवई ताई लैयावा यह वृत्तांत दसानन सुनयो अत विषाद पुन पुन सिर धुनयो जाकुल कुंभ करनी पहियावा विविध जतन करताई जगावा जागा निश्चर देखिए कैसा मानव काल देह धरि वैसा कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तब मुख रहे सुखाई कथा कही सब ते अभिमानी यही प्रकार सीता हरियाणी सात कपिन सबने शर मारे महामहाजोधा संहारे दुर्मुख सुर रिप मनुज हारी घटयति काय कंपन भारी अपर महोदर आदि कबीरा करे समर मई सवरण धीरा सुन दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्मा हरियाणी अब सत सात कल्याण सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय कल देख रहे थे कि हनुमान जी संजीवनी लेकर के आ गए और <clears throat> उनके आते ही कहते हैं जैसे कि करुण में वीर रस आ जाए इसी प्रकार से करुणा दूर हुई भगवान जो दुखित हो रहे थे वो समाप्त हुआ और हनुमान जी आ जाने पर फिर लोगों में जोश आ गया कि बस अब <clears throat> काम बन गया तो हर श्री राम भेंटे हनुमाना हनुमान जी के आते ही भगवान ने उठ करके हनुमान जी को उनसे भेंट की हृदय से लगा लिया हनुमान जी को अब हनुमान जी आए तो आकर के उनको पर्वत को रख करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते उसका अवसर नहीं मिला भगवान ने पहले ही उनको प्रणाम करने के पहले ही हृदय से लगा लिया तो ऐसा हुआ तो क्या अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना उसका कारण बताते हैं कि भगवान जो है वो बड़े ही सुजान सुजान के माने ये है कि ज्ञानवान मन व्यवहार की दशा में जो व्यक्ति समझदारी के साथ व्यवहार करता है वो सुजान है तो भगवान व्यवहार में बड़े ही कुशल हैं तो उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की हनुमान पर्वत लेकर के आए और फिर लक्ष्मण जी उससे जीवित हो जाएंगे संजीवनी से तो भगवान उनके अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनको व्यक्त करने के लिए हनुमान को अपने हृदय से लगा दिया तो ये नियम इस प्रकार का ये है कि कृतज्ञता व्यक्त करना एक सत्पुरुषों का लक्षण है भगवान भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो इससे मालूम होता है कि यदि कोई व्यक्ति सहायता करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए तो <clears throat> अति कृतज्ञ भगवान तो बहुत ही कृतज्ञ है मैंने वैसे लोग कृतज्ञता कभी कभी व्यक्त करते हैं तो एक फॉर्मेलिटी कर दी पूरी बोल भर दिया थैंक यू वगैरह कुछ कह दिया <clears throat> ऐसे हो गई कृतज्ञता उनकी लेकिन भगवान तो अति कृतज्ञ माने पूरे हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और फिर एक बात यह है कि कृतज्ञता प्राय जो दुर्बल होते हैं कमजोर होते हैं उनकी सहायता करो तो वे कृतज्ञता व्यक्त करते हैं लेकिन जो स्वामी हैं जैसे राजा हैं कोई विशिष्ट पुरुष हैं तो उनका कोई काम करो तो वो कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते वो तो जानते ही तो हमारे सहायक हैं सेवा करने वाले हैं ही इनके लिए कृतज्ञता क्या व्यक्त करनी है लेकिन भगवान प्रभु हैं श्री प्रभु शब्द का प्रयोग कर दिया कि भगवान प्रभु है स्वामी है ऐसा सब होते हुए भी <clears throat> नर करते हुए अपनी पूरी कृतज्ञता हनुमान जी के प्रति व्यक्त करते हैं और ये उनका समझदारी का लक्षण है ज्ञानवान है सुजान है अंग्रेजी में भी शब्द होता है एक तो होता है विजडम एक बात और इंटेलिजेंट और नॉलेज ये शब्द दूसरे प्रकार के शब्द हैं यहाँ सुजान जो है विजडम के अर्थ में है प्रैक्टिकल विजडम जो है वो हो उसके माने है सुजान व्यवहार में यदि व्यक्ति समझदारी से कार्य करता है व्यवहार करता है तो वो सुजान है <clears throat> अपने भाषा में या हिंदी भाषा में इस प्रकार से व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं <clears throat> तो कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत वैद्य तब कपिन तीन उपाय वैद्य से वैद्य वहां थे ही वो तो गए नहीं थे अभी तक उन्होंने झट से पर्वत से जहाँ जो औषध थी वो पहचानते ही थे उन्होंने उसकी लीडी निकाल ली और उसका उपाय किया और तीन उपाय मैंने औषध का प्रयोग किया और उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई बस लक्ष्मण जी को होश आ गया और प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी उठ बैठे अब औषध का प्रयोग कैसे हुआ क्या किया गया औषध का तो तुलसीदास इसको नहीं बताते क्या किया गया औषध का प्रयोग किया गया क्योंकि विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग मत हैं कोई कहता है कि वैद्य ने उस लेकर के <clears throat> औषधि उसका लेप तैयार किया और शरीर में लगाया लक्ष्मण जी के तो शरीर में जहाँ पर उनके घाव हो गया था वीर घातनी शक्ति लगी लगी थी वहां पर जब उस औषध का प्रयोग किया गया तो उनका उस, उस उपचार से उनको फिर आ गया उनका घाव ठीक हो गया <clears throat> और जाग गए कोई कहता कि नहीं ऐसा नहीं है कि वो संजीवनी जो थी वो ऐसी थी पिलाई गई उनको लक्ष्मण जी को जब वो बांट करके तैयार की गई घोटी घाटी गई तब लक्ष्मण जी को पिला दी गई तो जब पिए तब तो उनको होश आ गया मुंह में जब गई उनके पेट में पहुंची तो उसका औषधि का प्रभाव हुआ उससे उनको <clears throat> वो भंग हो गई <clears throat> कोई कहते हैं किस प्रकार से औषध को उसको कोई घुटने घाटने की कोई जरूरत नहीं थी वो जैसी औषध थी वैसी लेकर के उसकी पत्तियां वगैरह वो सब लेकर के लक्ष्मण जी के मुंह में वैसी डाल दी गई तो लक्ष्मण जी के मुंह में गई तो पहुंच गई और उसके बाद उसका प्रभाव दिखाई दिया तो ऐसे विभिन्न प्रकार के मत हैं तो जगह जगह रामायणों में तो तरह तरह की बातें हैं लेकिन तुलसीदास जी ने सबका समन्वय करने के लिए कि कहीं किसी से विरोध ना आवे इसलिए ऐसा कह दिया गया कुछ औषधि का तुरंत वैद्य तब न उपाय वैद्य ने जो है उसका उपाय किया कि मैंने औषधि का प्रयोग कर दिया अब क्या प्रयोग किया इसका तुलसीदास तो जी बताते हैं अब सबने जिसने जो प्रयोग किया हो उसको उसको मान लो उसी प्रकार से ठीक है ये सुषेण वैद्य जो है ये वैसे तो जैसे अभी कल प्रसंग आया था उसने बताया परसों में कि रावण के यहाँ सुषेण नाम के ये वैद्य थे रावण का ही वैद्य था <clears throat> ऐसे करके कथा आती है तो वहाँ से वैद्य लोगों का ये स्वभाव उनका नियम इस प्रकार का होता है <clears throat> उनकी एक प्रकार से मेडिकल एथिक्स है ये कि उनको कोई कोई भी चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो उनसे कोई मतलब नहीं जो उनसे औषध मांगेगा उसको ठीक औषध देंगे और उसका उपचार करेंगे तो ऐसे सुषेन ने भी किया जब उनको बुलाया गया तो ये सब जानते थे मानव सेना में जहाँ मंत्र वगैरह भी कि आएंगे तो औषध देंगे और वो ठीक ही औषध देंगे और उनसे इनका लाभ हो जाएगा <coughs> लक्ष्मण जी को उसमें आ जाएंगे एक मत ये भी कहीं है जैसे वाल्मीकि रामायण में ही है कि सुषेण नाम का एक बानरी था जो भगवान राम की ही सेना में था और वो बानर भी था और वैद्य भी था <coughs> जब हनुमान जी को इस प्रकार सत्य लगी तो वो राम की सेना का जो वैद्य सेना था उसी को बुलाया गया तो उसी ने आकर के बताया कहा कि इनको तो जो है इस प्रकार से वहाँ से औषध लाई जाए तब इनको ठीक होगा संजीवनी चाहिए इनके लिए तो और वो यहाँ मिलेगी नहीं वो तो हिमालय पर्वत पर है द्रोण पर्वत से लाने होगी तो ये सब बात बानर ने ही बताई जो सुषेण बानर ये रावण के वहाँ का नहीं है तो कथा कहने वाले जितने हैं लिखने वाले हैं <clears throat> उन लोगों में से मतभेद हो गया तो एक का मत ये हुआ कि अगर ये भी हम मान लें कि रावण के यहाँ एक वैद्य सुषेण नाम का था वो बुलाया गया तो एक तो रावण रोक सकता था वैद्य को रोकने जाने न देता और अगर हनुमान जी चुपचाप उसके घर समेत तो उठा भी लाए होते तो जब सुषेण लौट करके जाता अपने वहां पर घर पर तो रावण उसके पीछे पड़ता कहता जैसा कि तुमने उनको लक्ष्मण जी को उसमें ला दिए और तुम्हें ऐसी दवाएं पता है तो हमारे पक्ष के इतने जो है सेना पर तमाम मारे गए इनकी औषधि करो करो जिंदा इनको सबको हमने जिंदा करता वो तो उसके पीछे पड़ जाता रावण हम्म। तो इस की डर की वजह से कुछ कथाकारों ने उसको शिष्यों को रावण के अधीनस्थ नहीं बताया लंका वासी नहीं बताया कहा ये तो शिष्यों तो बानर ही था और राम की सेना का था उसके ऊपर रावण का कोई अधिकार नहीं था तो शिष्यों वैद्य रावण की सेना का जो था ये बड़ा ही कुशल वैद्य था तो इधर के देखते हैं कि राम की सेना में बहुत से बानर लोग मरते हैं और घायल भी होते हैं लेकिन शिष्य वैद्य की औषधि से वो सब स्वस्थ हो जाते हैं मरने नहीं पाते कोई और कुछ बानर युद्ध होते होते बहुत दिन तक युद्ध हुआ बहुत बानर मारे भी गए तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने कहा कि जो बानर हमारे पक्ष के मर गए हैं शिष्य उनको क्या किया जाए जीवित करो उनको तो मरे बानरों को भी शिष्य ने जीवित कर दिया ऐसी वाल्मीकि कथा में आती <clears throat> तुलसीदास ने उसको क्या किया कि ये शिष्य आए लंका से और औषध इन्होंने की और फिर जब युद्ध समाप्त हो गया तो कथा आगे आएगी कि भगवान ने ये चाहा कि हमारी बानर सेना के जितने भी बानर है वो सब जीवित हो जाए कोई नहीं मरे निशाचर मात्र मरे उन्हीं का समाप्त होना चाहिए तब इसके लिए फिर जब इंद्र आए और भगवान से आकर के उन्होंने प्रार्थना की भगवान विजयी हो गए तो देवता लोग आते हैं भगवान की प्रार्थना करते हैं इंद्र भी आए प्रार्थना की तब भगवान ने इंद्र से कहा कि तुम जो है वो हो बानरों को जीवित कर दो तो इंद्र ने अमृत की वर्षा की जिससे कि बानर जीवित हो गए और निशाकर जो है वो मरे रह गए वो जीवित नहीं तो ये इसका वानरों को जीवित करने का श्रेय इंद्र को जाता है अन्यथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार सचेन वैद्य है अगर बानर <clears throat> तो वो बानर ही इनको लक्ष्मण जी को भी होश में लाता है और वही जितने बानर मारे जाते हैं उनको भी वही होश में वही लाता है उनको सबको जागृत जीवित कर देता है वरना उसका समाप्त हो जाता है तो ये कथाएं तो निरंतर कथाएं होकर के बहुत विस्तार कथाओं का हो जाता है बहुत बातें हो जाती है उनसे कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं तुलसीदास जी का ध्यान ये है कि कथा भी चले लेकिन मुख्य बात तो ध्यान हमारा अध्यात्म की तरफ होना चाहिए कि हमारा शिक्षा हमें आध्यात्मिक शिक्षा क्या मिलती है भक्ति क्या है ज्ञान क्या है साधना आध्यात्मिक क्या है हमारा विकास कैसे होना चाहिए वो विशेष बात है उसकी तरफ ध्यान दें हमारा व्यवहार किस प्रकार का हो हमारा चिंतन कैसा हो इसकी तरफ विशेष ध्यान उनका है ये बात जहाँ कहीं आती है तो बड़े तुलसीदास जी इस बात को बड़ी सावधानी पूर्वक उसका वर्णन करते हैं कथा के बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं इसलिए कहते तुरंत बैठ तब तीन उपायी उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई लक्ष्मण जी उठ बैठे माने लक्ष्मण जी को होता आ गया और हर्षाई माने लक्ष्मण जी उठ करके भी प्रसन्न उठे माने ऐसे नहीं लक्ष्मण जी उठे हो तो उदास उदास दुखी दुखी रोते रोते उठे हो सो बात में लक्ष्मण जी को भी ये नहीं लगा कि हम बेहोश हो गए तो बेहोश हो जाने का उनको दुख हो तो नहीं वो जागृत से उठते हैं और फिर उनको अपनी वीरता भी उनको उसी प्रकार से स्मरण आ जाती है और जब आसपास लोग बताते हैं भगवान बताते हैं और लोग बताते हैं कि तुमको किस प्रकार से बेहोशी आ गई थी तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बस ठीक है अब हम ठीक हो गए कल से हम फिर युद्ध करेंगे प्रातः काल होने दो फिर युद्ध हमारा होगा तो हृदय लाए प्रभु भेंटू भ्राता तो भगवान राम ने जैसे लक्ष्मण जी होश में आए तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और भगवान राम बहुत दुखी थे लक्ष्मण के बेहोश हो जाने से तो उनका दुख दूर हो गया तो जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी जाग जाते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं तो हर से सकल भालू कभी बराता और जब देखा लक्ष्मण जी उसमें आए भगवान राम ने लक्ष्मण जी को लेकर के इस प्रकार हृदय से लगा लिया भगवान राम भी प्रसन्न है लक्ष्मण जी भी प्रसन्न है तो सब बानर सेना जितनी थी वो भी सब प्रसन्न हो गए <clears throat> कभी ब्राता प्राप्त मैंने समूह सेना जितनी भी लक्ष्मी इनकी जितनी भी सेना है <clears throat> बानरों की वे सबके सब जब भालुओं की बानरों की जितनी सेना थी उन सब सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई सब कुछ दिखाई देने लगी मैंने विषाद खत्म हो गया <clears throat> फिर कहते हैं कि कति पुण्य वैधता पहुंचावा कपि के माने यहाँ हनुमान जी हनुमान जी ने फिर सुषेण वैद्य का मकान उठाया उसी में सुषेण वैद्य को रखा और उठा कर ले जाकर के जहाँ से उनका घर उठा लाए थे वहीं उसी स्थान पर जमा दिया जाता सुषेण वैद्य अपने यथा स्थान अपने घर पहुँच गए अपने स्थान पर पहुँच गए और देवी जी तभी तो ताई ले आवा कैसे कैसे पहुँचा दिया कि जैसे पहले उनको घर कहीं लगा लाए थे उठा लाए थे वैसे घर समेत उनको यथास्थान पहुँचा दिया सुषेण वैद्य में पहुँच गया इस प्रकार से ये कार्य यहाँ का पूरा हो गया अब आगे की कथा क्या होती है तब देखो ये समाचार रावण को पता लगा तो राम की क्या दशा होती है उसका वर्णन करते हैं ये वृत्तांत तो दशानंद सुने अब दूत उसके तो लगे रहते हैं वो जाकर के बताते हैं दूतों ने बताया जाके रावण को <clears throat> कि वो तो हनुमान जी संजीवनी ले आए और कृष्ण वैद्य ने उनको पिला दी और उसके बाद वो सब आ गए आप सब मानव बहुत प्रसन्न है भगवान राम भी प्रसन्न है लक्ष्मण भी प्रसन्न है स्वस्थ है बिल्कुल इस प्रकार से हो गया ये वृत्तांत जब रावण ने सुना तो अति विषाद पुनः पुनः सिर धुना तो वो जो विषाद पहले भगवान राम को हो रहा था वो शिफ्ट हो गया हुँ? हम्म? और कहा पहुंच गया रावण के मन अब रावण विषाद हो गया वो दुखी होने लगा अब <coughs> भगवान राम का और बानव सेना का विषाद खत्म हुआ तो रावण दुखी हो गया और जब दो विरोधी होंगे तो एक की प्रसन्नता दूसरे का दुख और दूसरे की <clears throat> दुख एक व्यक्ति का दुख दूसरे के लिए प्रसन्नता हम्म? ये दशा हो जाती विरोध के माने ये <clears throat> ये वृत्तांत दशानंद सुने अत विषाद पुनः पुनः सिर धुने एक रावण बहुत दुखी हुआ और बार बार अपना सिर पीटा मैंने निराश भी हुआ उदास भी हुआ दुखी हो गया अब इसका दुखी होने का वर्णन आगे भी संकेत तुलसीदास तो भी करेंगे <clears throat> इसको देखो अब रावण इस बात में बार बार चिंतित होने लगा कि देखो <clears throat> हमारी सेना कितनी तो मर गई और हमारी सेना का तो कोई सेना ताप तक होश में नहीं आया और कभी जीवित नहीं हुआ मरे तो मर गए इतने ढेर मर गए सबके सिर कट गए फूट गए शरीर कुंभ की तरह से दल कुंभ की तरह से उनके मुंड जो है सबके सब फूट फूट करके नष्ट भ्रष्ट हो गए <clears throat> कहीं कोई जीवित नहीं हुआ और इनके पक्ष के बानरों का पक्ष का कोई मारे नहीं मरता एक लक्ष्मण जो है जिनको कि वो बेहोश भी कर पाए वीर घातनी जैसी शक्ति मारी और बेहोश भी हो गए तो भी मरे नहीं बच के फिर जिंदा हो गए तब उसने उसको लगने लगा कि बस अब बच नहीं सकते अब वो अपनी निराशा की बातें फिर आगे चल करके उनको कुंभकर्ण को सुनाता है तो कहते हैं व्याकुल कुंभकर्ण कहीं आवा तो उसका हृदय व्याकुल उठा और व्याकुल होकर के वो हो अब उसने सोचा कि देखो <coughs> मेघनाथ की बस की बात नहीं मेघनाथ ने बड़ा आश्वासन दिया था कि मेरा देखना युद्ध और मैं कैसा युद्ध करता हूँ तो उसने युद्ध बहुत किया और लक्ष्मण को बेहोश भी कर दिया लेकिन मारे तो नहीं मरा उनके लक्ष्मण तो उनको रावण को ये लगा कि कुंभकर्ण से और और, और जितनी हमारी सेना है इससे अब कुछ काम नहीं चल रहा है तो कुंभकर्ण सो रहा है इसको जगाना चाहिए ये भी बड़ा शक्तिशाली है जैसा कि कल कहा था मान लो उसको यही याद आया कि जैसे <coughs> भगवान राम के सहायक भाई हैं उनके छोटे भाई वो भी बड़े शक्तिशाली हैं देखो इतना युद्ध कर रहे हैं तो हम भी अपने छोटे भाई हमारा कोई कम शक्तिशाली थोड़ा है तो उनका तो बड़ा शक्तिशाली है उसको जगाना चाहिए वो इस समय हमारी सहायता कर सकता है ऐसा सोच करके रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचा व्याकुल कुंभकर्ण आवा रावण स्वयं कुंभकर्ण के पास गया जहाँ कुंभकर्ण सो रहा था और विविध जतन करता ही जगावा इसके माने जहाँ कुंभकर्ण पड़ा हुआ अपने सो रहा था वहां पर पहुंचा और अनेक यत्न करके उसको जगाया माने वो जल्दी जागने वाला नहीं था वो जब सोता था तो बिल्कुल ऐसे सोता था जैसे कि बिल्कुल मरा पड़ा हो बेहोश पड़ा हो मैंने ऐसा नहीं कि खटपट सुने और कहीं खटपट की आवाज किसकी चलने फिरने की कान पहुंच जाए तो जाके बैठ उठ के बैठ जाए ऐसे सोने वाला नहीं था इसलिए जब कोई बहुत गरीबी में सोता तो क्या कहते हैं हाँ, कुंभकर्ण की तरह सो रहा है कुंभकर्णी नींद कुंभकर्णी नींद के माने जिसको कि चाहिए था तो कुछ भी चोरा में कुछ भी होता रहे कोई बनता करता रहे कोई भी स्वर गुल मचाते रहो गुला दागते रहो किसी भी नींदे न खुले तो कुंभकर्ण ही नींद उठती <clears throat> कुंभकर्ण जो है वो जो अपने उसका बड़ा विशाल शरीर बहुत खाने वाला ऐसा उसका स्वभाव था तो जब ब्राह्मण के साथ वो तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी ने <clears throat> उसको जो है वो एक प्रकार से वरदान कहो या साप कहो दे दिया कि जाओ तुम आपसे सोते रहो तुम बहुत खाते हो तो, तो दुनिया अच्छा लोग खा करके इसलिए जाओ तुम सो जा करके और तुम्हारी नींद न खुले तो रावण कहने लगा कि सोता ही रहेगा तो कैसे काम चलेगा कभी जागे कभी सोए कुछ तो हनुम ब्रह्मा जी ने उसका थोड़ा संशोधन कर दिया कहा कैसा होगा कि छह महीने सोएगा छह महीने जागेगा इसमें रामचरित मानस में देखते हैं तुलसीदास की वर्णन करते हैं कुंभकर्ण की तपस्या का तो उसके बाद में जब ब्रह्मा जी शंकर जी कुंभकर्ण के पास गए कि तुमने बहुत तपस्या की तुम भी वरदान मांग लो तो इसने कुंभकर्ण ने स्वयं कहा कहा कि ऐसा वरदान हमको दो कि हम छह महीने तक सोते ही रहे खूब गहरी नींद हमारे को आ गए हाँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ तो वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसकी कुंभकर्ण की बुद्धि को फेर करके ये वरदान मंगवाया कि हम सोते रहे इस प्रकार का वरदान मांगो <coughs> जहाँ कहीं दुष्टों का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने वहाँ कुंभकर्ण का नाम लिया है और कहा ये कहा है कि कुंभकर्ण समसोवत नीचे ये दुष्ट लोग तो कुंभ की तरह कुंभकर्ण की तरह सोते रहे तो उसी से जगत का कल्याण सोते रहेंगे तो ये कहीं कोई समाज का अहित नहीं करेंगे चोरी डाका नहीं डालेंगे मारकाट नहीं करेंगे और नहीं तो जहाँ जागे तो बस ये उपद्रव करने लगे और समाज का विध्वंस करेंगे लोग हाया करेंगे इनको इनसे पीड़ित होंगे तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा कि इसको जो है वो <clears throat> दुष्ट लोग की भलाई उन, उनका सबसे अच्छा उनका उपचार ये कि वो सोते रहे बस <clears throat> तो कुंभकर्ण जो है वो बरदान स्वयं उसने मांगा छह महीने के सोने के लिए <clears throat> अब जब वो सो रहा था तो अभी छह महीने बीते नहीं थे छह महीने के भीतर की सब कथा है कि रावण जो है वो सीता जी का हरण करके लाता है और उसके बाद में फिर सीता जी का पता लगाया जाता है और सेना आती है और युद्ध सब होता है ये सब कथा होती है ये सब छह महीने के भीतर की कथा है कुंभकर्ण जब से सोया अभी छह महीने पूरे नहीं हुए इसके भीतर ही सब बातें हो गई सोते सोते कुंभकर्ण को जब रावण ने जगाया तो बहुत जगाना पड़ा उसको जगाने के लिए तमाम पानी उसके ऊपर डालना पड़ा तो घर में पानी ला ला कर उसको जब तसली तो को ठंडा किया तर किया शोर मचाया बाजे बजाए <clears throat> हल्ला मचाया जब ये सब बहुत हुआ और फिर उसके पैरों एरों में उसके कांटे आटे चुभाए गए उसके शरीर में जगह जगह जो है उसको जो है वो <clears throat> पहुंचा काटा गया तब वो सब जब मुश्किल में <clears throat> तो करके मुश्किल में उठा तो जागा निस्तर देखिए कैसा जब जागा तो उठ करके बैठा तो अब वो कैसा दिखाई दिया कुंभकर्ण अब उसका वर्णन करते हैं कैसा दिखाई दिया तो मानव काल देश हर वैसा ऐसा लगता है जैसे काल जो वो काल के समान वो भयंकर था काल ने ही स्वयं मूर्तिमान रूप धारण कर लिया हो और वो बैठा हुआ हो ऐसा दिखाई दिया बड़ा विकराल रूप उसका दिखाई दिया बड़ा भारी शरीर उसकी आंखें जो है वो ऐसी चमकती थी जैसे कि आकाश के सारे चमकते हैं और वो जो है वो सारी शरीर से भुजाए इतनी मोटी मोटी उसकी भुजाएं कि बगल में लगती नहीं थी ऐसी तनी रहती थी ऐसा भयंकर शरीर उसका जो था वो दिखाई दिया कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तमुख रहे उसमें सुखाई और जब कुंभकर्ण ने अपनी आँखें आँखें खोली तो देखा रावण सामने दिखाई दिया तो रावण से पूछा रावण उस समय उदास खड़ा हुआ था कुंभकर्ण के सामने तो कुंभकर्ण बूझा कहू भाई कि भाई बताओ क्या बात है क्यों हमको जगाया हाँ? और तुम्हारे जो है मुंह क्यों सूखा हुआ है रावण तो अपने अभिमान में सदा प्रसन्न रहा करता था जहाँ देखो तहाँ उसे विजय प्राप्त हुई अपना अहंकार दिखाता रहता था और करता रहता था सना रहता था मुंह के ऊपर अपने विजय की प्रसन्नता उसको सदा रहा करती थी लेकिन आज क्या दिखाई देता है वो झुका खड़ा है हा? और मुंह में उदासी खाई हुई है निराश जीवन से खड़ा हुआ है तो कुंभकर्ण ने पूछा ये तुम्हारी क्या दशा आज तक तो तुम्हें ऐसे रूप में कभी देखा नहीं क्या बात हो गई तो माने ये लगा कुंभकर्ण को कोई दुर्घटना घट गई कोई ऐसी आपत्ति आ गई रावण के ऊपर जिसके कारण उसकी ये दशा है तो उसको पूछना चाहिए कथा कही सबसे ही अभिमानी यहाँ अभिमानी के माने रावण रावण ने सारी कथा सुना दी कभी इस बीच में क्या क्या हुआ कहा कि कहीं तुम तो भाई सो गए और सोते थे जगह नहीं लेकिन इस बीच में हुआ कि बहन सूर्पनखा जो है एक बार दंडकारण में पहुंची तो वहाँ जो है वो हो अयोध्या के जो लड़के आए उन लोगों ने उसके साथ शैतानी की नाका कानन काट लिए और उसका अपमान किया उसके साथ शत्रुता की तो कहा जब उसने आकर के और फिर उसके बाद में जब प्रदूषण को तसरा को बताया जा करके तो ये तीनों भाई फिर युद्ध करने पहुंचे और उन सबको उन्होंने सबको मार दिया और उनकी चौदह जला सेना जितनी थी वो सब मार दी साहब तो तरह इसी सब कर दिया बड़ा उपद्रव उन्होंने किया तो हमने कहा कि अच्छा ऐसे काम नहीं चलेगा तो हमने उसका बदला लेने के लिए सूख मिठा का बदला लेने के लिए आम उनकी पत्नी उनके पास के साथ में वो ही उठा लाया कुंभकर्ण विकास तो कैसे उठा रहा है अरे कई तरीका किया हम ले गए उसको हिरण बना जा करके बना करके और जैसे ही उसको उसके पीछे हिरण को मारने के लिए वो दौड़े तब तक अकेले पा करके हम खड़ा फिर कुंभकर्ण से पूछा कर क्या हुआ कई बस वो रोते घूमते रहे बहुत रोए बहुत परेशान हुए उनको उनको मजा से खा दिया हमने फिर फिर ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते मुश्किल में पता लगा कि वो सीता जी का तो हमारे यहाँ है गन और यहाँ मन में लंका में ही बात कर रही है तो फिर जब उन्हें पता चला तो फिर वो सेना एना लेकर के आए अब जब वो भगवान राम जब हनुमान आए और हनुमान ने आकर के सीता जी का पता लगा ये भी उसने बताया लेकिन ये भी बताया था कि हनुमान आए सीता का पता लगा करके गए उनको मैंने पकड़ भी लिया था हनुमान को लेकिन उन्होंने हनुमान जो वो एक अक्षय कुमार को हमारे मार दिया पुत्र को और लंका में आग लगा दी और वो मानव चला गया उसने जाके जब बताया तो वहाँ से राम सेना इना लेकर के आए समुद्र के ऊपर पुल बांधा और यहाँ आकर के फिर युद्ध होने लगा है <clears throat> तो भगवान राम ने जो कुछ किया उसको संक्षेप में बताया रावण ने अपनी जो कुछ उसने करनी की थी किस प्रकार टीकाकरण कर लाया था उसने अपने विस्तार से सब बात बताई तो मैंने <clears throat> भगवान राम की यद्यपि महिमा और करनी रावण की करनी से बहुत बड़ी है रावण चोरी करके सीता भी लिया तो कौन बड़े भारी कमाल काम को थोड़ी किया लेकिन भगवान राम हनुमान जी आते हैं और नगर भर को जला देते हैं फिर आते हैं तो समुद्र को पार करने के लिए पुल बांध लेते हैं इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करके ले आते हैं बांदरों की और इतना युद्ध होता है उस युद्ध में इतने लोग मारे जाते हैं तो भगवान की करनी बहुत है लेकिन रावण ने अपनी करनी को तो बड़े विस्तार के सहित बताया और ये बताया कि मैंने ये ये कमाल किए लेकिन भगवान राम की बात को उसने संक्षेप में बताया कथा कही सब कही अवमानी जय प्रकार सीता हरियाणी तो जय प्रकार सीता हरियाणी ये कथा विस्तार से बताई हम्म? और सात ने सब निश्चर मारे और ये भी बता दिया उसके बाद फिर लड़ने का हो गए हमसे तो यहाँ पर फिर हमने जो है हमारा उनके बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में तो उन्होंने फिर बात किया कि दो दिन हमारा युद्ध हो चुका है और दो दिन के युद्ध में तो बहुत दिखाकर मारे गए हमारे सात कपिन सब निश्चर मारे और महा योद्धा संघारे हमारे पक्ष के बड़े बड़े जो जितने योद्धा थे सेनापति सब मारे गए और तमाम सेना मारी गई ये कुंभकर्ण को बताया रहा तो कुंभकर्ण ने पूछा कौन कौन मारे गए तो कुंभकर्ण जानता था उनकी सेना में कौन कौन बड़े शक्तिशाली हैं तब तो रावण सबका नाम गिनाने लगा कहता दुर्मुख सूर्य मनुज मनोज आहारी ये सब निशाचरों के नाम है कहते ये सब मार डाले गए दुर्मुख नाम का एक निशाचर था वो मारा गया दुर्मुख उसका नाम क्यों था क्योंकि वो बगवादी था बहुत बकवास करता था निंदा करना कठोर वचन बोलना गालियां देना ये उसका स्वभाव था इसलिए उसका नाम था दुर्मुख मानी निशाचरी प्रवृत्ति है ऐसे जो लक्षण जिस व्यक्ति में है समझो निशाचर इसलिए उसका नाम दुर्मुख और सूर्यप देवांतक उसका नाम सातवी नाम था देवांतक देवांतक का पर्यायवाची शब्द कर दिया देव और अंतक तो उसका दुष्का कर दिया देव की जगह कर दिया सुर रिपु कर दिया उसका नाम देवांतक एक निशाचर था देवांतक माने किसी देवता को न मानने वाला नास्तिक और नास्तिक न कोई देवता होते हैं और न कहीं ईश्वर होता है न कहीं कुछ होता है जो कुछ है सो तो हम जो कुछ है सो प्रकृति बस जो दिखाई देता जगत तो और हम बस इतना ही है न कहीं देवता न कहीं कुछ इस प्रकार का मानने वाले व्यक्ति जो है देवांतर कहलाते हैं तो एक निशाचर था देवांतर ईश्वर और देवता इन सबके अस्तित्व को न मानने वाला था मनुजहारी मनुजहारी मैंने नरांतक एक देवांतक था एक नरांतक उसका नाम कर दिया मनुजहारी मनुष्यों को खा जाने वाला तो नरांतक माने मनुष्य से भी विरोध करने वाला मनुष्य लोग के माने जो लोग अपने धर्म के मनुष्य से कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है और धर्म का आचरण करता है उसे मनुष्य कहते हैं हम्म? अगर अपने पसंद कर्म को नहीं करता धर्म के मार्ग पर नहीं चलता तो मनुष्य नहीं निशाकर पिशाचर असर कुछ को कहो तो और दूसरी बात अलग हो मनुष्य शब्द कहलाने योग्य नहीं होता